पर बोलो फिर भी मैं पूछ लेता हूँ तो हमारे मुल्ला जी से हमने पूछा कि आदमी मरे तो रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए क्योंकि मोहम्मद साहब जा रहे थे और एक माई का युवक पुत्र मरा था रो रही थी तो माई ने माई को मोहम्मद साहब ने दान दिया कि रो मत तो खुदा ने अपनी अमानत ले लिया और फिर रोगे तो वो डोजक में जाएगा तो भी डोजक में जाएगी रोना मना करा है लिखा है कुरानों में तो आदमी मरे तो रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए मुल्ला ने कहा नहीं रोना चाहिए तो हमने पूछा फिर वो ताजिया करते हैं इमाम हुसैन के लिए रोते हैं तो ये नहीं रोना चाहिए तो मुला ने कहा तो ये नास्तिक है <laughs> तो मेरे को बाहर निकाल दिया जब धर्म का निर्णय है ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है तो उन लोगों के मुल्ला और अपने लोगों के पंडित मंडित कन्या मन्या कुर्र तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर्र रुपयों की थैली धर तू चाहे तर चाहे मर जब ऐसा होने लगता है तब आदमी बेचारा आ जाता है उसमें प्रकरणों तो को याद करो यतो यतो निष्पति मनस्चंचलम स्पष्टम तपस्तो नियमे व तद आत्मनियो वसम नये यह फिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से मन कहीं जाता नहीं शब्द आदि विषय के निमित्त से कल्पनाएं होती है ध्यान देना शब्द आदि विषय के निमित्त से आप बैठे हो या तो सुनने की इच्छा देखने की इच्छा सुंगने की इच्छा या तो सुना देखा सुंगा जो कुछ है उसमें तुम्हारी कल्पना डाली ठीक है ना जो कुछ सुना है तुमने कहीं देखा नहीं स्वर्ग सुना है नरक सुना है पुण्य सुना है पाप सुना अमेरिका सुना लंदन सुना गए कि न गए लेकिन जो सुना होगा देखा होगा सुंगा होगा स्पर्श किया होगा उसकी कल्पना चलेगी उसकी कल्पना चलेगी और आप यदि सावधान न रहे तो उसमें मनोराज में आपकी एनर्जी खो जाती है और वो कल्पना रिपीट होते होते आदमी कई बार दुखी होता है और कई बार सुखी होता है सुख दुख की बाहर सामग्री में कई आदमी वो कल्पना कल्पना में कई बार सुखी होते हैं मैंने कहा चलो આમ થઈ બહુ સારું બેઠા બેઠા છાપામાં આવ્યું બરાબર હવે પછી બીજી કલ્પના तो जो तो इससे क्या एक धारा आपकी हर्ष की निकली एक धारा आपकी शोक की निकली लेकिन शोक की और हर्ष की धाराएं निकलते निकलते आपको धुंधला बना दिया कमजोर बना दिया आप बिखर गए हर्ष के समय आप हर्षित होकर देखो शोक के समय आप बड़ा गुस्सा करके दिखाओ कोई बात नहीं लेकिन अंदर में उस समय भी जैसे ज्ञानी जागृत रहता है ऐसा नहीं कि ज्ञानी चुपचाप रहेगा कोई उसको जैसा करे ऐसा कर दे ना ऐसा भी नहीं कि ज्ञानी लड़ता रहेगा नहीं ज्ञानी में लड़ता है नहीं चुप रहता है वो भीतर का जैसा स्वाभाविक स्पंदन होता है वो होने देता है बढ़िया ढंग से होने देता है लेकिन साथ साथ में उसी समय साक्षी होता है भ्रष्टा होता है ज्ञानी का गुस्सा तुमने देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने जरा सा कभी कभी देखा है ज्ञानी का प्रेम भी नहीं देखा हम लोगों ने प्रेम करेंगे तो भी पूरा बांटेंगे तो भी पूरा क्योंकि वो पूरे में खड़े हैं और हम मुझे अधूरे मनीराम में खड़े हैं इसीलिए बड़ी अधूर अधूर बाबा जी से किसी ने पूछा कि आप साधना क्या करते हो बाबा ने कहा कोई साधना नहीं बोले आप कौन से भगवान का ध्यान करते हो मेरे से भी किसी संत ने पूछा था कि महाराज आप कौन से भगवान का ध्यान करते हो मुझसे कौन से भगवान का ध्यान मतलब मुंबई में कोई संत था संत तो ठीक वो कोई स्थानधारी था ગાદીપતિ મોટું ડેરું હતું આપણા કરતા ઘણું મોટું ડેરું હતું અને એ ડેરાનો માલિક મરી ગયો એનો કાપો થતો હતો એટલે ભત્રીજો એમ બેઠો જય શ્રી કૃષ્ણ એને મને પૂછ્યું કે તમે કયા ભગવાનનું ધ્યાન કરો છો મને લોકો પૂછે કે ધ્યાન કરવું તો મારે શું કહેવું તમે કયા ભગવાનનું ધ્યાન કરો છો मुझे आश्चर्य लगा मैं ऐसा बोले नहीं शिव जी का ध्यान करते हो तो विष्णु का ध्यान करते हो कृष्ण का ध्यान करते हो तो सूर्य का ध्यान करते मैं क्या बस मैं ध्यान करता ही नहीं किसी भगवान का ध्यान नहीं करता मतलब ऐसी ऊंची स्थिति नहीं तो जब ध्यान करता था तब ये स्थिति नहीं थी और जब सब छोड़ दिया तभी ये स्थिति आई बंदगी का था कसूर बंधा मुझे बना दिया मैं खुद से था बेखबर सभी को सिर झुका दिया वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था नजर को नजर का कसूर कोई रुपये का ध्यान करता है कोई पत्नी का ध्यान करता है कोई पैसों का ध्यान करता है कोई मूर्ति का ध्यान करता है लेकिन ध्यान जिससे होता है उस अपने को भी तो देख ले यार पहले खुली आंख दिखता था बंद आंख करके देखो किसी देवी को देवता की प्रतिमा को ठीक है प्रारंभ के लिए लेकिन वेदांत तो बोलता है रुकने की जगह नहीं है ये पड़ा है मंजिल नहीं है जिस जिसका भी ध्यान करोगे वो कोई राजकीय कल्पना होगी कोई सात्विक कल्पना होगी कोई तामसी कल्पना होगी कोई भूत में खड़ा होगा कोई भविष्य में खड़ा होगा वर्तमान में तो तुम ही हो यार तुम हो तभी भूतकालीन देवी देवता को याद कर सकते हो तुम हो तब भविष्य की सुख की कल्पना कर सकते हो लेकिन भविष्य में सुख नहीं है और भूत में दुख नहीं है अभी तुम जैसे हो वैसे के वैसे यदि अपने को जान लो बेरा पार देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में अब खुद से मचाना हो गया चलो स्वर्ग में मस्त आना कोई नरक में मस्त आना कोई रुपयों में मस्त आना कोई पद में मस्त आना कोई प्रतिष्ठा में मस्त आना कोई शादी में मस्त आना कोई किसी में मस्त आना कोई आन में मस्त आना कोई मान में मस्त आना ये सब मस्ताना पड़ा कल्पना की एक छोटी छोटी झलक मात्र है और वो भी मस्त जिस विषय की आप इच्छा करते उस विषय के अनुकूल घटना घटती है तो वो कल्पना हटती पर आनंद तो फिर भी आपको अपना आता है मेरे इच्छा है कि तुम्हें घड़ी बांधो चले तो समझाने के लिए कह रहा हूँ हाँ लाइन मुकी देता नहीं अब किसी के हाथ में देखता हूँ तो मेरे को पास तो अच्छा गया घूमता घामता कभी किसी सज्जन के पास थी मैंने देखी એને હાથમાં હતું નવી લાયા પણ એને પસંદ નથી અત્યારે બીજી નવી લેવી છે ને ऑटोमेटिक वो उसके हाथ में दिखती है और उसको मजा नहीं आता उसको दिखती नहीं तब दुख होता और मेरा हाथ जब खाली है दूसरी घड़ियां बहुत पड़ी है लेकिन नहीं टोनी नहीं आए तब मेरे को दुख होता પેલા વેચી એટલે સુખી થયો મેં બાંધી એટલે હું સુખી થયો ઘડિયાળ ને તો ખબર જ નહીં હોય ખરું કે નહીં ખરી વાત છે ઘડિયાળ ની ખબર હશે કે હું હવે આની થઈ પેલા આની હતી नहीं उसको बेचने की कल्पना थी वो कल्पना हट गई इससे सुख हुआ और मेरे को लेने की कल्पना थी मिठाइयों में सुख होता है दुकानों में या बाजारों में सुख होता है बाजार वस्तुओं में सुख होता है तो दुकानें ना तोड़ती वो बच्चे बेचने वाले बेचते नहीं सुख कोई नहीं बेचता वो बिक्री करता तब सुखी होता है ग्राहक जब लेता है तब उसको मजा आता है दोनों को मजा आता है खरीदार को भी मजा आता है और देखभाल को भी मजा आता है क्योंकि उससे बेचने की कल्पना है उसको लेने की कल्पना है दोनों का सौदा मिल जाता है तो सुख कब होता है कि सुख होता है तुम्हारी कल्पना हटती है तो तुम सिद्ध जैसे जैसे लहरियों प्रति लहरियां लहरियां प्रति लहरिया चलती है तो फिर गहराई नहीं दिखती है लहरियां थम जाती है तो गहराई दिखती है ऐसी कल्पना हट जाती है तो शांति दिखती रात को कल्पनाएं दब जाती हटती नहीं दब जाती बड़ी शांति और जब तक चालू कल्पनाएं तो नींद नहीं आती कल्पना दब जाती है तो नींद आती है और कल्पना विवेक से हट जाए तो आपको समाधि का सुख मिलता है मैंने किसी सज्जन को कहा था कथा में बात बता दूंगा कोई मानस લો આ પૈસા સેવામાં લગાવી દેજો પોતે આવવાની ફુરસત નથી એને બાપુજી વાર છે એની દક્ષિણા બક્ષિણા આપણે કીધું દક્ષિણા તો એની જોઈએ ને તમારી પણ ન જોઈએ બીજાની પણ ન જોઈએ જય જય પણ છતાંય ભલે ના આવતો એ આવે પણ એને હજી તૈયારી નથી दक्षिणा देने के बहाने से भी आ जाए तो कोई हरकत नहीं लेकिन एक बार सत्संग में आ जाए कथा में आ जाए तो वाह है भाई मनुष्य शरीर में चार प्रकार के मन होते हैं चार प्रकार के आदमी होते हैं एक होते हैं पामर दूसरे होते हैं विषयी तीसरे होते हैं जिज्ञास चौथे होते हैं ब्रह्मवेता पामर क्या मन के पार हिस्से में जिनका जीवन मर जाए वो पामर एक कुपमंडुक जीवन पुण्य था के पाप था वाहवा था के निंदा था पर मारो क्या बस करो भोगो लहर करो हालांकि लहर सीखी नहीं इनकी बधु करू छू पोता सुख माते पति देवी देवता भगवान समाज गुरु शास्त्र बीजू एक पामर होते दूसरे होते विषय समाज में अपनी इज्जत रहे सुखी रहिए भविष्य में सुखी थे स्वर्ग गई लिफ्ट में जाए वो होते हैं विषय माइंड के लोग तीसरे होते जिज्ञासु यहाँ भोग भोग के शरीर को जला देना ये वहां भी भोग भोग के फिर वापस गिरना इसमें कोई सार नहीं ऐसी चीज को जाना जाए ऐसी चीज पाई जाए तो फिर कभी पतन न हो ऐसा क्या है ऐसा सार क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाना न पड़े यद गतवा निवर्तन के तद धाम पर ममा ऐसा कुछ मिल जाए कैसे मिले वो कैसे मिले क्या है उसका स्वरूप क्या है इसकी खोज जिनके चित्त में पैदा होती है वो हैं जिज्ञासु तो बहुत ऊंची स्थिति जिज्ञासु में भी तीन प्रकार के लोग होते एक साधारण जिज्ञासा एक मीडियम जिज्ञासा और एक तरफी हुआ जिज्ञासा विषय में भी तीन प्रकार के होते हैं कनिष्ठ मध्यम उत्तम सामर में भी तीन प्रकार के होते हैं ઇન્દ્રા વિનાની ગાયનું છે એટલે વાંધો નહીં આ કનૈયાની ગાય ક્યાં છે બે ધન ધનાવો હસુરી તો અમારો છે કે નહીં આવું તો છે પણ આવું નહીં ખવાય આપણે અમાર તો ખરા પણ બકરી જ છે તે બીજું અમુક અમુક છે તે નું અમારે ખરા જ્યારે કોઈ તો વાંધો નહીં પણ પણ ગાયનું તો નહીં એકદમ ગાય આવે એટલે એકદમ third class former class second class former में कच्ची फर्स्ट क्लास फॉर्मर एंड जिज्ञास first class third class second class जिज्ञासु भी तीन प्रकार के होती है कनिष्ठ जिज्ञासु वो पालें मौका मिले तब तक उस चर्चा को करें मौका मिले तब उस परमात्मा की तरफ जाए मौका मिले तब वो ज्ञान पालें मिल जाए तो ठीक है ज्ञान मिल जाए तो ठीक है वो अच्छे हैं जिज्ञासु विषय से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको इतना तड़प नहीं जिनको तड़प है इन तड़प तड़प के साथ इज्जत आबरू मोभा ये भी संभल रहे हैं और वो भी चीज मिले तीसरे होते કે આ બધું જાય તો જાય પણ પેલું મળે કારણ કે આ એક દાડે તો જવાનું जनक ऐसे थे उत्तम जिज्ञासु जनक जब कथा में जा बैठते थे तभी याज्ञवल्लभ बोलना शुरू करते उत्तम जिज्ञासु जनक तो बाकी के जो साधु है इसमें કોઈ ગાળ દીધી હોય કેટલી બહી જાય છે એ ઠપકો દીધો હોય ને આમ જરા ધન ધને સભા વચ્ચે તો કેવી અસર કરે એવી અસર જો વેદાંત કરે તો સમજી લેવું કે ઉત્તમ જગ્યા છે कई बार ये मलंग मलंग कभी कुछ डांटता हूँ तो जरा जरा थोड़ा फिर मैं बोलता हूँ कि गधे गधे मलंग हजार बार बोलता हूँ कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो ब्रह्म हो वो बात नहीं चुपती और मैं बोलता हूँ कि रोज रोज के बेशरम हो तो वो बात चुप गई श्री राम जय जय और वो तो कहता हूँ कभी दो चार महीने में जब रोज रोज आने लगते वही के वे लोग और फिर जीवन में कोई उत्थान तेजी से नहीं तो बोलता हूँ कि रोज रोज क्या तब से बेशरम लोग છ મહિનામાં એક વાર કીધું એ ચોંટી ગયું પણ છ મહિના કીધું એ તત્વજ્ઞાન એ કેમ ચોંટતું નથી જય શ્રી કૃષ્ણ કયો ને જરા જય શ્રી કૃષ્ણ કહો તો ખરા वो जिज्ञासा की तरतीव्रता नहीं है जनक के पास तरतीव्रता थी जनक कथा में आए और याज्ञवल्लभ बोले बस जैसे आपने स्विच ऑन किया और पंखा घूमा ऐसे जनक का बैठना और याज्ञवल्लभ का शुरू हो जाए રોજ वो बात उनको खटके છે બીજું તો બધું સારું યાજ્ઞવલ્લક તો બ્રહ્મવેતા भगवान रूप है ये विषमता अच्छी नहीं हम मुंड मुंडाए कोई दाढ़ी रखाए कोई माला घुमाए कुपिन पहरे सब कुछ छोड़ के साधु बने हम कथा सुनने को आते हमारी कोई कीमत ही नहीं हमारी पास वैल्यू तो थी गई गणतरी तो थी गई ने हमारी ऋषि मुनियों से बता लालिया पीड़िया बता रंग बेरंगी थी અને આ રાજા થાક में आए ને शुरू था याज्ञवल्लभ ने एक बार योग बल से जनकपुरी में आग पैदा कर दी जैसे डायरेक्टर के आइडिया से पर्दे पे आग हो जाती है दिखता है ना आज सही योग बल से भी हुई वजीरों ने आदमी भगाया और जाकर जनक को कहा महाजन नगर में आग लगी जनक ने कांडा पकड़ के हाथ पकड़ के दिखा दिया दूसरा आदमी आया थोड़ी देर में कि आग महल के करीब करीब आ रही है आप चलो तुम आवाज मत करो सत्संग चल रहा है फिर वजीर आया समझ गया कि उन्होंने काम में कहा होगा और महाराज ने बिठा दिया होगा चिल्लाया राजा साहब महल में तो आग लगते लेने को है लेकिन महल के आसपास के साधु संतों को इन महापुरुषों को जो झोपड़े बना दिए वो भी अब पता होने को है और आप कृपा करिए चलिए सुनक बैठे रहे वो तो सबूत है याज्ञवल्क ने सबको थाम दिया खरो जरा जनक तुम तो जाओ उसमें पूरा नगर जल रहा है बोले महाराज वो एक दिन जलने वाला है देर सदर उसको मैं कितना संभालूंगा ये जो बुझाने के लिए जीवन मिला वो बुझ रहा है ये भीतर की तपत बुझ रही है आपका सत्संग का अमृत बरस रहा है उस अमृत को पीठ देकर वो मिटने वाली चीजों को मैं संभालने को कहा जाऊं साधुओं को क्या तुम क्यों जाते बोले हमारी कोपिन सूखती होगी लंगोटी हमारी बड़ी ना जाए हमारे તુંબડું ના જતું રહે બસ એટલા માટે જનક આવે છે તો કથા શરૂ થાય છે અગ્નિ બગ્નિ कुछ नहीं जाओ श्री राम तो जो लोग पामर होते हैं उनको संत पुचकार प्यार देकर विषय बनाते हैं जो थर्ड क्लास पामर है उनको सेकंड क्लास में आते हैं जो सेकंड है वो फर्स्ट में और जो कुदरती फर्स्ट में है दान पुण्य करने की आदत है तो उनको थर्ड क्लास नहीं कह सकते वो विषय है दान पुण्य करते ना तो भविष्य अच्छा जानते भविष्य अच्छा उसमें तो दान पुण्य करते तो विषय है और विषय को फिर जिज्ञासु बनाते विषय जब आने लगेगा तो जिज्ञासु होगा और जिज्ञासु यदि दो नंबर का है तो पहले नंबर का करेंगे तीसरे का है तो दूसरे का करेंगे और जब पहले नंबर का होगा तो उसको साक्षात्कार के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगेगा फिर उसमें असर करेगी बात और वो बात से फलेगी फूलेगी और एक दिन वो सत्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा तो बापू મારી પરીક્ષા લેવા કરતા હશે કે શું મોરારજીભાઈ દેસાઈ બાપુને યાદ કર્યા હતા મને કોઈ જોબ મળી આવો કહેતા હતા એ વાત સાચી હોય ગમે તે અમેરિકાની વાત બાપુ પરીક્ષા કરતા હશે પરીક્ષા નતા કરતા અને અમને એમની પાસેથી કઈ લેવું નથી પણ ગમે તે રીતે ગમે તે રીતે ઓખા જેવો તેવો ઘઉંનો रोटलो हम बिरला घाट पर वो जो घाट वाले बाबा रहते हैं उनकी और हमारी एक बार चर्चा हुई है आनंदमयी माँ के पास मिनिस्टर लोग आते हैं एमपी लोग आते हैं बहुत लोग आते हैं हाँ बोले ये माई है बेचारी कईयों को संभाल के बैठी है एक विभूति है भारत की भारत वालों ने कहा विभूति है भारत की कहीं तो उनको संभाल बैठी कल कुछ साधक लोग आए थे प्रश्न हुआ था आपस में और प्रश्न उत्तर से दिमाग विकसित होता है इंदिरा चल बसी तो पूरे विश्व में खबर फैल गई और बारह दिन का शोक जाहिर हो गया लाखों लोगों ने भाग लिया होगा बाजारों में असर पड़ी होगी किसी ने प्रश्न पूछा इंदिरा से आध्यात्मिकता में प्रभाव में आनंदमय माँ कम उसी के ज्यादा थी इंदिरा की गुरु तो इंदिरा से कई गुना ज्यादा थी नेहरू की भी वो गुरु थी इंदिरा के भी गुरु थी और कई की गुरु थी आनंदमय माँ तो बोले अनन्नी माँ चली चली गई तो बारह दिन का तो क्या बारह घड़ियों का भी भारत में शोक नहीं फैला और शायद विश्व में तो खबर नहीं लेकिन भारत के कई ब्राह्मणों में भी खबर नहीं पड़ी होगी आनंद नहीं में चल रही उस समय इनका तो इतना और उनके गुरु इतनी ऊंची थी तो उनकी कोई पता ही नहीं चला और किसी कोने में चल बसे આવું કેમ થતું છે એ પ્રશ્ન જિજ્ઞાસુનો કોઈ ભગત છે હું તમને પૂછું છું એવું કેમ થયું હશે બોલો એ વાત तो साथी है प्रश्न तो बराबर है इंदिरा के इतनी प्रसिद्धि हुई चले जाने पर भी और जितना मातम मनाया गया शोक मनाया गया श्रद्धांजलि दी गई उसका सौमा हिस्सा भी उनके गुरु के प्रति लोगों ने नहीं किया होगा उतनी भीड़ नहीं हुई होगी बराबर છે ये बात तो हम देखा जाए એવી છે यही કેમ ये प्रश्न उस बेचारे का अपना कहना ऐसा नहीं कि इनकी यश न हो अथवा इनको श्रद्धांजलि कम मिले या ज्यादा मिले या अपना कहने का कोई तात्पर्य नहीं है लेकिन एक विचार उठा क्या કેમ એમને ઇન્દિરાજીનું થયું એના કરતા ભલે દસ ગણું થતું પણ એમના ગુરુજીનું એના કરતા હવાયું થવું જોઈએ એવો પ્રશ્ન છે બોલો તમારી પાસે છે જવાબ सबरी जब चल बसी होगी तो सबरी के जमाने के जो राजा होंगे चैतन्य चल बसेंगे उस जमाने के जो राजा होंगे एकनाथ जी और तुकाराम जब चल बसे होंगे और उन जमाने के राजा भी चले होंगे तो उन राजाओं का तो बड़े धाम धूम से सरगस निकली होगी और ये बेचारे संत तो किसी कोने में ही अलविदा ले गए होंगे किसी कोने में जीते होंगे कोने में ही चल बसे होंगे लेकिन हम सबरी के जमाने के राजा को नहीं जानते सबरी को जानते चैतन्य के जमाने के राजा को हम लोग इतना आदर से नहीं मानते जानते पूछते लेकिन उन महापुरुषों को हम जानते पूछते लेकिन उनके हयाती काल में इतना नहीं हुआ क्यों रामतीर्थ बोलते हैं कि राजाई यश जो है आतशबाजी के अनार जैसा है राज्य यश जो है ना राजाई रस यश वो आतशबाजी के अनार जैसा है आतशबाजी का अनार दिखता है बड़ा धूमधाम और भगवान के रस्ते चलते हो तुम्हारी दूसरी बात आनंदमय माँ पूर्ण थी कि अपूर्ण थी पूर्ण थी पूर्ण में यश की इच्छा नहीं थी इसीलिए उनका यश नहीं हुआ एक उत्तर दूसरे के <clears throat> राजदारी पुरुष बहुत लोगों के संपर्क में और बहुत लोग उसी कैटेगरी के होते हैं उस लिए भी होते तीसरी बात यह होती है कि वो पूर्ण में व्यक्ति और इतना की इच्छा नहीं होती और जिनकी जैसी इच्छाएं तीव्र होती है उनको ऐसा होता है लेकिन ये सब है सपना मात्र किसी के मरने पर भीड़ ज्यादा हुई तो क्या कम हुई तो क्या कोई अनार खा के जिया तो क्या कोई फल खा के जिया तो क्या रोटी खाकर जिए तो क्या जाड़ा पहन के जिया तो क्या पतला पहन कर जिया तो क्या प्लेन में घूम कर जिया तो क्या और बैलगाड़ी में जिया तो क्या लेकिन वो कल्पना के बहाव में बहा के कल्पनाओं का साक्षी हुआ इस बात पर मिल गया जीवन में उसमें जहाँ से जीवन शुरू होता है और ये जीवन रूपी बुलबुला चल चल के गुनगुना कर फिर लीन हो जाता है इस बुलबुले के आधार रूप आत्मा को उसने जाने कि नहीं जाना ये भी जाना कोई मानो चाहे न मानो हजारों भीड़ हो तो भी कोई हरकत नहीं और न भीड़ हो तो भी कोई हरकत नहीं लेकिन ऐसे लोगों के चरणों में हमारे प्रणाम दुहता देहाती ते जानी ना चरण मा हो वंदन क्या कहते गैरी वैरी भयंकर है विषय पीड़ा न बंतु भोग का चंचल पना मन का मिटा अभ्यास करके योग का तो योग शब्द भी बड़ा व्यापक है लय योग हठ योग कुंडली योग नादानुसंधान योग इन योगों को मुख्यतः हम लोग समाज में देखते कि भक्ति कोई भक्ति करता है कोई कर्म करता है कोई ज्ञान साधता है ज्ञान में भी योग मिलाया जाता है भक्ति में भी योग मिलाया जाता है कर्म में भी योग मिलाया जाता है तो वो मुक्ति के दायक हो जाता है कर्म करते हैं लेकिन कर्म में योग मिला दे तो कर्म योग हो जाए भक्ति लोग करते हैं ऐसा कोई आदमी नहीं जो भक्त न हो कोई रुपयों का भक्त है कोई सत्ता का भक्त है कोई वाहवाई का भक्त है कोई भोजन का भक्त है कोई स्त्री का भक्त है कोई पुरुष का भक्त है कोई कोई किसी का भक्त है कोई किसी का कोई जाति का भक्त है कोई संप्रदाय का भक्त है कोई कृष्ण का भक्त है कोई राम का भक्त है कोई देवी का भक्त है कोई देवता का भक्त है कोई झगड़े का भक्त है तो कोई शांति का भक्त है शांति के दूत है सब लोग भक्त तो हैं लेकिन वह भक्त खंड खंड के भक्त है वेदांत बोलता है खंड खंड की भक्ति का मौका मिले तो करो उसमें मना नहीं है लेकिन खंड खंड में जो अखंड ज्योत जल रही है उसका ज्ञान लिया है तब तुम्हारा ज्ञान योग होगा और उसके लिए कर्म करो तो वो कर्म योग हो जाएगा और उसकी भक्ति करते हो तो भक्ति योग हो जाएगा माँ की सेवा करो माँ का भगत बनो बाप का भगत बनो जरूरी है अच्छा है लेकिन माँ और बाप में पड़ोसी और मेहमान में छुपा हुआ जो परमात्मा है उसको लक्ष्य में रखकर मां की सेवा करो मां को भगवती रूप भूलो भले बीजू बधु मां बाप ने भूलो नहीं अगणित से उपकार एना एक दूजी करो नहीं संतान थी सेवा चाहो संतान से सेवा करो जेव करो तेव भरो ये भावना भूलो नहीं माँ बाप का ऋण तो कैसे हम चुका सकते हैं माँ बाप की भक्ति करना चाहिए लेकिन माँ बाप में परमात्मा है ऐसी भावना के साथ यदि भक्ति कही है तो भक्ति योग हो जाएगा माँ बाप की बात माना माँ बाप को आदर दिया तो आदर देते हैं तो उसमें भी मेरा प्रभु है तो माता पिता में प्रभु देखा अतिथि में प्रभु देखा ईश्वर देखा संत में ईश्वर देखा ऐसे ईश्वर देखने की आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा कि सब में ब्रह्म का दर्शन होगा कहते विचरता उस उस विषय से रोक कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें जिस जिस विषय में मन ऐसा नहीं कि तुम्हारी कल्पना थम जाएगी तुम कोई थम्भा नहीं हो एक जगह फिट कर दिया किसी ने बस रुक जाओगे नहीं तो मन की कल्पनाएं तो होगी लेकिन उन कर, उन उन कल्पनाओं में ईश्वर को ले आओ भोजन कर रहे हैं ओम पाना स्वाहा अपना स्वाहा ये और परमात्मा को आहुति दे रहा है कि साधन हो गया हाँ दे दमादम पेट इनकार कर रहा है कि बस हो गया बस हो गया कि ना और ले और ले जरे भूख જયારે ભૂખ લાગે ત્યારે ઉપવાસ રાખે અને જયારે ભૂખ ના હોય खेलो टाइम ખાઈ લો ટાઈમસર સાડા दे धना धन चलो बिचारो हाय हाय હાય तो है बाबा जी से किसी ने पूछा कि आप किस देवता का ध्यान करते हो बोले किसी देवता का ध्यान नहीं करते किसकी भक्ति करते बोले किसी की भक्ति नहीं करता मेरे से पूछा आप किस भगवान का ध्यान करते मैं क्या कोई भगवान करे तो आप क्या करते मैं कुछ नहीं करता जब भूख लगती तो खा लेता हूँ नींद आती तो सो जाता हूँ मौज आती तो बोलता हूँ मौन होने की इच्छा होती तो खिड़की बंद कर देता हूँ जय जय साधु भाई सहज समाधि भली गुरु कृपा भई जा दिन ते दिन दिन अधिक चली साधु भाई सहज समाधि भली कान न मूंदू आंख न रूंदू काया कष्ट न धारू खुली आंख में हसक देखू सुंदर रूप निहारू साधो भाई सहज समाधि भली गुरु कृपा भई जा दिन ते दिन दिन अधिक चली साधु भाई सहज समाधि भली खाऊ क्यों से करू पूजा मैं जो भोजन करता हूँ ना वही मैं पूजा कर रहा हूँ विराट की ईश्वर चलता हूँ तो प्रदक्षिणा कर रहा हूँ क्योंकि सब जगह तो ही तो तू है इस प्रकार की अवस्था जिन पुरुषों की हो जाती है उन पुरुषों की तो सहज समाधि है चलते फिरते खाते पीते समाधि है ऐसी समाधि में प्रवेश करने के लिए प्रतिदिन थोड़ा ध्यान में बैठो जप करो नियम करो ये अच्छा है लेकिन अंत में जो भी जप तप नियम कर तो उस नियम को उतने तक महदूद मत रखो उस नियम को उस जप तप के फल को तुम व्यवहार में लाओ मंदिर में गए तो भगत दुकाने गया ला जा फसा जा आ, जा ना रसोड़े में गए तो अब रसोया बनो भोजन करते तो भोजन बन जा बात करते तो बात बन जा लेकिन हम बिखरे बिखरे बात करते हैं तो मन कहीं होता है भोजन करते तो मन कहीं होता है सोते हैं तभी भी मन कहीं सपने देखते रहते हैं सो तब तो ऐसे सो के बस सो गया बोलो तो ऐसे एकाग्रता तांता लाओ तो तांता क्यों क्या होगी जब कल्पनाओं का जत्था कम हो जाएगा तब तांता होगा कल्पना हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देती बिखेर देती है તમે બેસી રહો થોડી વાર છાના માના પછી જુઓ કેટલી કલ્પનાઓ આમ તમે બેસી રહેશો ને તો કલ્પનાઓની ભીડ થશે પણ કલ્પનાઓને જોશો ને તો કલ્પના ઓછી થવા માંડે કેવી કલ્પનાઓ ચાલે છે જુઓ જરા બે ઘડી ध्यान दान मत करना केवल शांति से और दिन में दिन में दस पांच बार ऐसा देखने की आदत पड़ जाएगी ना आपको लगेगा कि अरे भगवान को पाना साक्षात्कार करना जीवन को चमकाना कोई कठिन बात नहीं क्योंकि एनर्जी जो बिखर रही थी ना बिखरना कम हो जाएगी तो आपके अंदर बल आ जाएगा પેલો પૂજારી ઘંટડી વગાડે જાય નોખો ફેરવે જાય કોણે દહકો મૂક્યો કોણે પહોંચ્યો મૂક્યો પેલી ઉંદરડી શું ખાઈ જાય છે आरती करे जाए जब आरती करते तो आरती हो जाओ आरती करने की मना नहीं है work while work play while play that is the way to be happy and ये बचपन में हमने पढ़ा था સુબહ ઘૂમને જાતે તો એકદમ ખાલી સવારે ફરવા જઈએ કોઈ કે ક્યાં જાઓ છો ऑफिसे जाओ છો दुकाने जाओ છો કે ના ના ફરવા जाऊं છું उस समय तुम्हारी बातों में कितनी ताजगी होती है पैरों में कितनी रौनक होती अब फिर दस बजे गुजरते हो नौ बजे कहा जा रहे घूमने जा रहे कि ना भाई दुकाने जाऊं છું ઓફિસે જવું છું ક્યો ક્યો કલ્પનાઓને ઘેર लिया है कि हम કરવું છે એ કરવું છે તે કરવું છે કઈ कर्तृत्व भाव का बोझा लेकर जा रहे नहीं तुम्हारा जीवन भर का दिनचर्या ऐसा करो धंधा दुकान ऐसी करो जैसे राजकुमार कोई खेल खेलता हो विनोद मात्र विनोद मात्र व्यवहार જેનો તો કે પછી વિનોદ માત્ર વિનોદ થી વ્યવહાર કરીએ તો વ્યવહારમાં બધું ઊંધું પડે ના ના બર્ડન ને ટેન્શન હટાવીને વ્યવહાર કરો ને તો બધો છક્કો જ છક્કો આવે લીલા લહેર ટેન્શન નહીં તો શું થવાનું છે आज तक जो गुजर गया उसको देख लिया जो गुजर रहा है वो देख रहे हैं और जो गुजरेगा वो देखा जाएगा બહુ તો મરી જવાનું છે મરવા માટે તો આ બાયડો આવ્યો છે લે હેડો मौत से डरो नहीं मौत से बचने की कोशिश मत करो मुसीबतों से भागो मत मुसीबतों के आमंत्रित करो कि देखो जरा तू कैसी होती फिर देखो मुसीबत में दम नहीं रहता रामतीर्थ बोलते थे कि हम ताजा मुसीबत खाते हैं हम रोज ताजा मुसीबत ढूंढते बासी मुसीबत से हमको मजा नहीं आता और जो हमारे पास मुसीबत आती है मुसीबत को मुसीबत हो जाती कि मैं गैर जगह पर गई કૂતરું ભસતું હોય ને તમે એની સામે જાઓ તો પૂછ દબાઈને ભાગશે પણ જો તમે એ ભસ્યું ને તમે જો ગભરાઈને ભાગ્યા તો પેલા કુરકુરિયા વાહે પડશે सीधी बात ऐसे ही विघ्नों से बाधाओं से मुसीबतों से डर के जो आदमी जीता है ना तो विघ्न बाधा और मुसीबत के छोटे मोटे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पड़े बेचती न हो जाए बेचती के भय से तो बेचती हो जा चल ઓમ ના થઈ જાય કે એમ થવાના મૃત્યુના ભયથી મોત હારી અપમાનના ભયથી અપમાન હારું भय खतर खतरनाक होता है भय तुम्हारी कल्पनाओं को और बढ़ा देता है शक्ति को क्षीण कर देता है लंबा श्वास लेंगे धूप वाले धूप लगाएंगे लंबे श्वास लेते समय मनोबल को बढ़ाएंगे મનુબેન કહેતું હવે જતો નથી મને ખબર પડી ગઈ અને આ બધી કલ્પનાઓ પસાર થાય છે હવે કેટલી કલ્પનાઓ પસાર થાય છે એ મારે જોવી છે બસ બરોબર છે ને जाल से मुक्त हो रहा है मेरे मन की चंचलता मिट रही है इस प्रकार का भाव दृढ़ करते करते तुम्हारे मन को आत्मा में स्थिर करो कल्पनाओं की उन धारा में तुम्हारी वृत्तियों को बिखरने से बचाकर उस अंतर्यामी परमात्मा में गोता मारो खूब खूब गहरी गहरी शांति कल्पना करो कि मेरा मन शांत हो रहा है मैं शांत हो रहा हूं जैसे सगर राजा के वंश में विश्व सह के पुत्र सम्राट खटवांग हो गए बड़े प्रभावशाली राजा थे लोगों की इच्छा न थी राज्य का अहम न था चित्त सदा कर्तव्य परायण इतने प्रभावशाली थे कि देवता जब हार जाते थे दैत्यों का जुलम हो जाता था देवों पर वे महाराजा खटवांग की शरण लेते थे और महाराजा खटवांग देवताओं को मदद करते थे इंद्र को मदद करते थे मदद लेते लेते देवता उसके रण से दब गए थे एक बार देवेंद्र ने और देवताओं ने खटवांग को कहा कि हे राजन कुछ वरदान मांग ले खटवांग भोगी तो था नहीं जिज्ञासु था देखा कि हमारे सगर राजा चले गए हमारे पिता माँ और पिता चले गए जगत की ऐसी कौन सी चीज मांगू जो सदा रहेगी जो कुछ मांगा जाएगा और जो देवता लोग देंगे वो उनके सात्विक संकल्प से देंगे सात्विक कल्पना से देंगे और कल्पित चीज सदा मिल टिकती नहीं देह भी सदा नहीं टिकता तो देह की चीजें सदा कैसे टिकेगी मैं और कुछ मांगू उन्होंने स्वर्ग का आधिपत्य न मांगा जगत का आधिपत्य न मांगा उन्होंने पूछा कि तुम तो त्रिकालज्ञ हो देवता लोग को ये बताओ कि मेरा आयुष्य कितना है तब देवताओं ने बताया कि तुम्हारा दो घड़ी का आयुष्य है एक मुहूर्त मात्र दो घड़ी का आयुष्य सुनकर खटवांग ने कहा बस ये दो घड़ियों में मैं अपने जीवन की यात्रा कर लेता हूं और उन दो घड़ियों में बैठ गए परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गए मन में भाव आता था देवताओं को मदद की बोले ये कल्पना है कल्पनाओं से मदद हुई और देह से मदद हुई बच्चों को पढ़ाया लिखाया ना ही राज्य किया ना ये सब कल्पनाओं ने किया मैंने कुछ नहीं किया राज्य भी संकल्प और कल्पनाओं से हुआ बच्चों की पढ़ाई भी संकल्प और कल्पनाओं से हुई वो महारथी भोपाल जो देवताओं को मदद करता था उसने इस कल्पना के राज को जानकर एक घड़ी तो आने में और जगह में पहुंचने में लगी बाकी एक घड़ी एक मुहूर्त में साक्षात्कार कर लिया खटवांग राजा ने एक मुहूर्त में एक घड़ी में खटवांग राजा कल्पनाओं से पार होकर कल्पनाओं का साक्षी दृष्टा आत्मा वही मैं हूँ और वही सबके चित्त में मेरा स्वरूप है मैं आत्मा हूँ साक्षी हूँ उस अपने असंग निसंग भाव को योग्यता के अनुसार होते हैं तो अकेले में गए कौन हनुमान प्रसाद फौजदार गीता पेश गोरखपुर के संत अभी राम दास आए थे इधर अपने वहां बड़ी अच्छी सेवा की उन्होंने सनातन धर्म की हनुमान प्रसाद जी अकेले में गए बोले बाबा जी ये तो शंकराचार्य ने भी कहा क्लेशा विद्या रह जाती है बोले शंकराचार्य स्वप्न पुरुष थे कि स्वप्न दृष्टा थे स्वप्न के संसार में हुए थे कि स्वरूप में हुए थे केसरिया शंकराचार्य ने ऐसा लिखा है ऐसा वचन है शंकराचार्य का तो शंकराचार्य कल्पित संसार में हुए थे कि ब्रह्म में हुए थे हनुमान प्रसाद को इतना आनंद आया इतनी शांति मिले चित्त उनका ये शास्त्र है ये जो पढ़ रहे हैं ना उनके वचन है हम्म, पूरा कर दो गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है यही मानना कल्याणकारी है और, और ये मान्यता शुद्ध बुद्धि में होती है आदमी जब एकांत में रहता है ना मन सात्विक होता है शुद्ध होता है तब गुरु की गरिमा का पता चलता है जब व्यवहार में होते हैं रजो तमोगुणी खुराक रजो तमोगुणी आहार रजो तमोगुणी व्यक्तियों के बीच तो फिर बुद्धि डगमग डगमग डगमग मौन मंदिर में या एकांत में या हिमालय में या साधना में होता है बुद्धि शुद्ध होती है तभी उनकी गरिमा का पता चलता है जैसे लड़का जितना ज्यादा पड़ता है ना उतना फिर वो प्रोफेसर की कदर होती है एकड़े वाले को प्रोफेसर की क्या कदर एकड़िया वाला अथवा भूरो દેહાય भूरा દેહાય ने एम એની e की कदर वो तो अपने जैसा मनुष्य समझेगा जब वो पढ़े लिखे तब पता चले विद्वान का ऐसे जो ईश्वर के रास्ते जितना हम ऊंचे जाते ना उतना ब्रह्म वेताओं की व्यापकता का गरिमा का उनकी सूक्ष्म पहुंच का पता चलता है વાઘરીવાડામાં ઇન્દિરા ગાંધી જાય તો પેલી કલબી ડોસી કે કે આ આ બેન ને કપડા હારા પહેરેલા છે પણ એની કલમમાં કેટલી તાકાત છે તો તું દિલ્હીની રાજનીતિ જાણે ત્યારે ખબર પડે આ બાઈ હારી છે બિચારી છે મારા કરતા તો હું તો એને લાફો મેલું બે હારી નાખું કે અને વાતે હાચી પેલી ગલબી ડોશી ઇન્દિરાબેન ને મારા જોરથી બે હાર નાખે बाहर से तो कल भी दोषी मोटी जब तो इंदिरा की जो पहुंच है कलम में प्राइम मिनिस्टर पद में ऐसे ही तत्ववेता और अज्ञानी अज्ञानी हो सकता है रुष्ट पुष्ट सत्ता साम्राज्य सत्ता धन वैभव राज हो ज्ञानी के पास कुछ भी ना लेकिन ज्ञानी की जो सूक्ष्म लोकों में पहुंच होती है चौदह लोकों में उसके बाप को भी पता नहीं सत्ता वाले को सत्ताधीशों को राजाओं को उनको पता ही नहीं जैसे गलबी दोषी को प्राइम मिनिस्टर की पहुंच का पता नहीं ऐसे तत्ववेताओं के सूक्ष्म जगत की पहुंच जहाँ सबको मर के जाना है वहाँ जो तत्वज्ञानी की पहुंच होती है वो राजाओं को पता नहीं बड़ी ऊंची पहुंच होती है अब देखेंगे तो वही प्राइम मिनिस्टर व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति व्यक्ति रूप में तो दोनों एक दिखेंगे ऐसे देह रूप में तो संत राजा प्रजा सब एक जैसे दिखेंगे खाते पीते होते अंदर की बात है इसलिए गुरु में मनुष्य बुद्धि होना पाप और गुरु में ईश्वर बुद्धि कल्याणदायी होती जब तक सतगुरु में श्रद्धा नहीं होती तब तक हजारों उपाय मुक्ति नहीं दे सकते हम्म। यदि मनुष्य को प्रेमी निस्वार्थी उदार प्रकृति निराभिमान श्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन दुर्बुद्धि या अभिमानी होने से उनकी कृपा से वंचित हो जाता है बड़े भाग्य से तो ऐसे गुरु मिलते भगवान की कृपा से कुछ सत्कर्म किए हुए होते हैं फलते तब ऐसे गुरु मिलते फिर कोई दुर्भाग्यवशात कोई दुष्ट प्रारब्ध आ जाता है या कोई दुष्ट क्रिया किया कर लेता है तो आदमी की श्रद्धा डाउन हो जाती है श्रद्धा डाउन हो जाती है तो फिर आदमी गिर जाता है उनकी कृपा से नहीं तो वो तो गुरु लोग पार कर देते हैं जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक आदमी अंतकरण में जीता है ना मन में अंतकरण तो कभी ऊपर कभी नीचे कभी तो कह मारे तो हमारू माथू तो क्या है ना झुके એક ફલાણા સંત પાસે ને બીજું બાપુ પાસે પોતાના શિષ્યોને મોકલે કોઈક વખતે તો વળી દર્શન આપવાની ફુરસત નહીં કોઈક વખતે એવી લેખી લગાવીને લખે કે હા હા હા કોઈક वक्त टाइम જ ना મળે किसी व्यक्ति का कसूर नहीं है अंतकरण में जीते हैं ना हम लोग हाँ अंतकरण में हम लोग जीते हैं ना तो अंतकरण कभी कैसा कभी कैसा आत्मा एक रस होता है अंतकरण में तो ऐसा होता रहता है इसलिए महापुरुष समझते हैं महापुरुष हृदय से बड़े उदार रहते हैं कहो अजमोत है आज चुप है तो थकान है कि मौन शंकराचार्य ने बोला ये शंकराचार्य ने ऐसा बोला तो शंकराचार्य कल्पित संसार में हुए कि शुद्ध ब्रह्म में हुए कल्पित संसार में हुए ना तो कल्पित संसार में तो उस वक्त भी तो कल्पित लोग रहे होंगे तो उनकी योग्यता देखकर बोले तो कोई ब्रह्म वाक्य थोड़े हो गया हाँ, बराबर पूछो तो मुझे जरा तो बोलो हो गया तो पूछो कोई नहीं जी महाराज करो तो मैं कहूँ करो तीन प्रकार चलावे એક તો ગુરુ મહારાજ કટી વે ગુરુ મહારાજ ચિંતન કરીને ગદગદ વેતા એ ઉત્તમ બીજા પ્રકારના गुरु महाराज को दर्शन करने गदगद वे सरिता का दर्शन करने से संगम दर्शन का दुगना फूल होता है और सागर दर्शन का कई गुना ज्यादा होता है सरिता को देख के प्रसन्नता आती है लेकिन ओम पूरा करो गुरु के तत्व प्राप्त मध्यम शिष्य दर्शन करने से और निकृष्ट शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे जब गुरु में अनुराग है गुरु हमारे हैं तो उनके गुण हमारे ही है क्या गुरु हमारे हैं तो उनके गुण हमारे हैं गुरु हमारे हैं तो उनका सामर्थ्य हमारा ही है गुरु जब हमारे हैं तो उनका यश हमारा ही यश है हा? जब गुरु हमारे गुरु है ना तो मेरे बाप का यश तो मेरा ही तो यश है अब केशु भाई का पैसा तो कौशिक का ही तो है हाँ? केशु भाई का केशु भाई सौदा करके पैसा अभी चलो ये तो अभी केशु भाई का नहीं अभी तो हमारा रहा उसके पहले हाँ। ભાઈ સોદો કરી આવે આપણો જ સોદો કહેવાય ને અમેરિકામાં ભાઈ આટલા લોટ વેચી આવ્યા ભાઈ વેચાય આપણે જ વેચા કહેવાય भाई कमाने આપણે જ કમાણ भाई को છો ને मोटा भाई तो ऐसे ही जो उसको अपना मान ले तो उसका सब कुछ अपना है जैसे अगर गुरु को अपना माना था अभी हम बोला ना केशु भाई का मिलकत हमारा मिलकत कौशिक का है तो ना बोलता था क्योंकि केशु भाई तो हमारे को अर्पण कर दिया तन मन धन ऐसा है ना केशव भाई का मिलकत तुम्हारा नहीं है किसका है बाप जी का तो केशव भाई ये भी मानेंगे कि बाप जी का सामर्थ्य हमारा सामर्थ्य है बाप जी का आश्रम हमारा आश्रम है सिद्धांत सिद्धांत की बात है जब आपने सब कुछ मेरे को दे दिया तो मेरा मेरा सब कुछ आपका ही तो हो गया सीधी बात है ना ऐसे हाँ? बेटा सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप की मिलकत बेटा की हो गई ऐसे शिष्य सब कुछ गुरु को देता है तो गुरु का जो सामर्थ्य है वो शिष्य का ही हो गया और जितना ईमानदारी से सब कुछ दिया उतना ईमानदारी से वहां प्रकट होने लगेगा <laughs> जितना कोर कसर रखा उतना वहां कोर कसर <laughs> वो तो टाडो वो तो टरे गयो કીધું પોણાય હું તો ટરે ગયો પણ એ ઠારવા માટે જ કીધો તો આમ સાચુકલો નહીં કીધો તો હું તો લીલા જ હતી જયારે ગરુજી રોય તો તે કરાણા તારો ટરે ગયો તો એ હતો ટકોરો તો થાપડ્યો સાચુકલો નહીં તો ટકોરો જ તો મારા દાડે મારા દાડે વાત हुई थी कैसी मैं हुई थी क्या तो भी ठीक है हाँ पढ़ो आजकल लोग गुरु ઊંડા માટે ઊંડા માટે अजी अर्पण नहीं हुआ की परीक्षा करता है ना टाइम उस वक्त थोड़ी पता चलता है परीक्षा परीक्षा ये परीक्षा ऐसा पता चले तो परीक्षा क्या हाँ पता चले ये परीक्षा है ऐसा करे तो हाचुकलू कर भले सौ महीना मजा करे बारह महीना બે વર્ષ हमारे वहाँ क्या होता था कि किसी को लड़का हो ना तो उसका नामकरण छठे दिन करते हैं उसको बोलते छठी તમે પટેલો में એમ छठी के छठी हाँ तो छठी में जिसको पहला पहला लड़का होता है ना तो पहले के जमाने की बात है हम बच्चे थे तब तो लोग भोजन करने आते हैं तो लड़के के बाप को दो रुपये दें तो वो चार करके देगा पांच दे तो दस करके देगा मतलब वो खुशी में जो भी लोग भेंट थे उसको दुगना करके देने की रवाज होता <laughs> कोई आदमी बोला इसको तो लड़का हुआ है दुगना करके देगा दो सौ रुपये दिया उसने रख लिया <laughs> રૂપિયો બે રૂપિયાના ચાર પાંચ ટકા બસો બસો મારે દેવાનું करते हैं आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए गुरु सेवा बिना जो विद्या है वो सूचना है विद्या नहीं तो बैठे आचार्य प्रोफेसर ये सब तो समझते हमारे पास विद्या है नहीं सूचनाएं है विद्या तो ब्रह्म विद्या है हम्म, जो मौत के सिर पर पैर रख के बैठ गए वो विद्या है गुरु सेवा तक तो करते नहीं और सोचते हमको विद्या आ जाए पहले के जमाने में इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु सेवा और गुरु का आशीर्वाद आदमी सब ज्ञान उपलब्ध कर लेता था हम भी तीसरी क्लास पढ़े हैं गुरु सेवा ही तो बोल रही नहीं तो तीजू बने लायक है पहली बीजी तीजी चौथा मत गया आदमी परीक्षा आपका ये तो गुरु सेवा से तो ज्ञान हुआ है तो मास्टरों से हुआ है मास्टर साहब <laughs> हाँ पर ऐसा भला कैसे हो सकता है गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता पहले पहले समय में लोग इतने पढ़े नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे इतना पढ़ते नहीं थे जितना गुरु सेवा और गुरु अनुकंपा पाते थे एक लगे देखो द्रोण का चित्र बना के कैसे विद्या सीख गया अर्जुन को भी पीछे कर उपमन्यु देखो आयुध धम का शिष्य और दूसरे कई तोटक देखो एक नाथ जी का शिष्य देखो पूरणपुर एक नाथ जी खुद देखो सांदीपक और कई इतिहास भरा है इसी से उन्हें सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती थी आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु सेवकों के सामने कुछ नहीं है आ, हाँ, बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी गुरु सेवकों के आगे कुछ नहीं है के आगे प्रोफेसर क्या होता है गुरु सेवक जिस पर जिसने गुरु की सेवा करके गुरु को संतुष्ट कर लिया है उसके आगे बड़ा विद्वान क्या है बड़ा सत्ता वाला क्या है पहले के जमाने की क्या अभी बात देखो ना सीधी बड़ा सत्ता वाला एमपी क्या है मिनिस्टर क्या है प्राइम मिनिस्टर का पद क्या है जो हमको मिला है उसके आगे प्राइम मिनिस्टर का पद क्या है उसके आगे मोती भाई का पद क्या है केशु भाई का पद क्या है केसरिया का पद क्या है जयंती भाई का पद क्या है ठीक है ना हमको जो मिला है उसके आगे आपको क्या है आपके पास कुछ मिल अच्छा क्यों होता है ऐसा वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती गुरु के आशीर्वाद से ही इन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था आजकल शिष्य की गुरु में ईश्वर भावना दृढ़ नहीं होती इसी से उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है आ, हाँ, गुरु में ईश्वर बुद्धि नहीं होती इसलिए गुरु के सिवा अन्य किसी इष्ट किसी भगवान को भी कहता है अब गुरु भी है और कोई इष्ट भी है हिड़ब करो जब सतगुरु मिल गया तो फिर सब इष्ट उसी में है नजीक जाओ तो अंदर की अशांति आ जाती है और धर्म सत्ता के नजीक जाओ संतों के नजीक जाओ भगवान के नजीक जाओ तो हाँ शीतलता मिलती महाजमल का बच्चा नहीं समझता है रावण जैसों के पास पैसा होता है तो दूसरों का नोचने के काम आता है राजान वट सेठन वट हूंदा तो दारू में वेंदा या बे नंबर में चिंताउनि चिंताउनि में हार्ट अटैक कंदा संतन वटि ॿ पैसा आहिनि त माण्हुनि जो कल्याण था कनि त केतिरनि खे काका शिवलाल કેટલાને એવું ભૂત હોય છે કે સંતોને વળી પૈસાની શું જરૂર અરે ગધે <laughs> बुद्धि नाश हुआ है तुम्हारा शास्त्र पढ़ो तो गांधी जी बोलते थे तुम्हारा फर्ज है किसी में गुण देखो उसमें गुण नहीं भी हो तो भी तुम गुण देखोगे ना कोई मिल जाएगा और दोष न भी हो और तुम उसका दोष विचार करोगे तो अपना पाप बढ़ जाएगा फिर तुमको कुदरत का दुख हो गांधी जी बोलते थे मैं सच संतन के ही न करण खपे संतन के हूं न करण खपे एक आदमी गया बिरला घाट पे घाट वाला बाबा के पास पढ़ा लिखा था लेकिन कई अनपढ़ गधे होते हैं कई पढ़े लिखे गधे होते हैं तो पढ़ा लिखा गधा था बोले आज के जमाने में क्या साधु संत पहले तो झोपड़ी बांध के रहते थे एकांत में रहते थे भिक्षा मांग के खाते थे और आज तो साधु संत बड़े बड़े मठ बना के बैठे लाखों करोड़ों रुपए साधु संतों के आश्रमों में राधा स्वामी के पास इतने करोड़ रुपए हैं खांड की मील है इतने करोड़ ब्याज पे हैं गणेशपुरी वाला गण, मुक्तानंद बाबा के पास एक सौ करोड़ रुपया है सौ करोड़ ब्याज पे चल रहे हैं फलाने संत के पास इतना है फलाना ऐसा है हरिद्वार में ऐसा है ऐसा है कोई ऐसा संत नहीं मिलता है कि जिसको घाट वाला ने बोला कि संत कैसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो बोले देख अभी तो ऐसा तो कोई है नहीं तो तू ऐसा बन के देखा तो सब तेरे को पूजेंगे <laughs> संत के ये न करण कपे ये न करण कपे ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तू तो सब जानता है तो तू ऐसा बन जा तो हम सब तेरे को पूजेंगे तो जिनको ईश्वर के रास्ते कदम रखने नहीं है और जिनको अपना तमोगुण है आलस्य है निद्रा है तंद्रा है अपनी बेवकूफी जो छोड़ना नहीं चाहते ओ ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा लेकिन जो साधक है वो तो महापुरुषों का लेके इशारा और चल पड़ते आदिपुर में कुछ <laughs> लोग गए शंकर भी था चंदीराम भी थे उनके साथ आदिपुर में गए पूछा साई लीलाशाह का आश्रम कहाँ है किसी ने बताओ लीलाशाह असि तो कौन मञींदा है उनके असि झूले लाख न लख मञींदा है <laughs> अरे पाड़िया तो तोखे पुछे केरु जेके मञनि उन्होंने उन्हनि पातो न मञे तो जख मार अब लीलाशाह जी जब मौजूद थे तो लीलाशाह ही है हुआ है हो अखबार में थोड़ो कंहिं कंहिं महिल अची वेंदो पालनपुर जे अख़बारनि में ॻाल्हियूं ठाहे उहे हीअं अभी लीलाशाह जी चले गए उनके पत्थर की मूर्ति रख के लीलाशाह भगवान की जय अभी चार चार हजार आदमी इकट्ठे होते मौजूद थे तो पंद्रह आदमी सत्रह आदमी तेरह आदमी टेवर टेवराम मौजूद थे तो उनके आश्रम में मरे हुए कुत्ते छोड़ के जाते थे उन्होंने जो कुएं खुदवाए उसमें घासलेट पैंच आदि खर्चों से डाल दिया जाता था उनके आश्रम में कोई जाए तो पंजे रुपया दंड हिन संत मानू तो खारे बार तो खा रहे ये तो करे जिस संत में पावर होता था लोगों को प्रेम देता था लोगों को संप्रेक्षण शक्ति देके आनंदित कर देते थे उनकी योग साधना होती थी तो बच्चे बच्चियां जो यंग ब्लड है ना उनमें ग्रॉस्पिंग पावर ज्यादा होता है छत्तीस साल की उम्र के नीचे के लोग होते ना तो उनमें उनके खून गर्म खून होता है गर्म और बुद्धि में ग्रहण शक्ति होती अब बयालीस के बाद फिर थो देखो जोश के पंजवीह साल की उम्र में हो टीह साल जी में वठ वठां हाणे यार ठहियो ॿ ॾेई वियो यार ठहियो फलाणो छा थो करे यार छॾेसि वो जमाना था कि वो क्या हुआ ये क्या हुआ तो जवानी होती है ना तो वो उसमें ग्रहण शक्ति होती है ग्रॉस्पिंग पावर को बोलते तो जिनके पास ग्रॉस्पिंग पावर था प्लेसिंग पावर ग्रॉस्पिंग पावर तो ऐसे लोग साई टेवराम से आकर्षित हो जाते थे लेकिन जो चिकने खाच खाच लोग थे ही संत लाइ छा थो तो करे माण्हू भेणा हलिया था तो वञनि हो कंहिं महिल रोअनि पिया कंहिं महिल खिलनि पिया कभी नाचते कभी हसते ही संत टेऊंराम भेणा कुझु ई आहे पोइ गिला कंदे कंदे कंदे पंचादी ठराव हुआ की टेऊंराम के आश्रम बंदि करा वहां की नगर पालिका जो सुन टेऊंराम जी डिब डिब डिब पे मरे हुए कुत्ते छोड़ के आते थे टेऊराम ने कुओं खुदवाया तो उसमें पंचादी खर्च से घासलेट डलवा दिया समाज में इतना विरोध फिर भी लोग जाते थे क्योंकि तो जो टेऊ राम के आश्रम में जाएगा पंज रुपया दंड तभी का पांच रुपया अभी का पचास से भी ज्यादा है पांच रुपया दंड कोई भरे तो इज्जत का सवाल है फिर माँ बाप कहीं जावे तो लड़के लड़कियों को वो बड़ी बड़ी दिवाले होती थी आगंद दो वॾी वॾियूं दिवाली हूंदियूं अंदर पूर के जाते वो दिवाले कूद के चले जाते फिर क्या करते वो खाट के पाए से बच्चों को बांध के फिर जाते थे इधर उधर करके रस्सा तोड़ के भी गुरु के पास पहुंचे जिनको लगन लगी वो तो फायदा ले लेते थे और जिनका नहीं है वो तो उस समय भी ऐसे संत को चर्च बर्च रख के पकड़ाने की कोशिश करते थे फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने देखा समाज के लोग तो दक्षिणा बक्षिणा तो नहीं बेचारे बच्चे बच्चियां न कमाए न करे सत्संग में आवे फिर डोढ़ा चटनी